आनौ मोहि मोहिनहि सोझा को जकै बर बिनु बोझा एक इह मन माहि काल चली हम प्रभु पाही यद्यपि मयन भलयपराधि धर्मोहि कारण सकल उपाधि तदपि शरण सनु मुख मोहि देखि क्षमि सब कृपा कृपाविषेखि मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सोचता श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है मन में एक ही आँख निश्चयपूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे शील सकुच सरल सुभाऊ कृपा शनेः सदन रघुराऊ अरिहु कयन भल मैं मै सेवक यद्यपि बामा पै पाँच मोर मानी आय सुवासिष देहु सुबानी देहि सुन विनय मोहि जानी आवहि बहुरी राम रज धानी श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही आप पान पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे यद्यपि जनम कुमारुते मैं सठु सदा सदोष आपन जान न त्याग हे मोहि रघुबीर भरोस यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी ही हूँ तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं भरत बचन सब कह प्रिय लागे राम सरे सुधा जन पागे लोग भी सम भी सदागे मन्त्र सबीज सुनत जनु जागे मातु सचिव पुर नर नारी सकल भय भारी भरत ही कहि सराही सराही राम प्रेम मो रति तनु आहे भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है तात भरत यस काहे न कहू प्राण समान राम प्रिय अहू जो पावुर जो पावरुप नि जड़ताए तुम हि सुबई मात कुतलाए सोसठ कोटिक पुरुष समेता बसी कलप सत नरक निकेता अघयव गुण नहीं मन गहे हर गरल दुख दारिद हे तात भरत आप ऐसा क्यों न कहें श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित सौ कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा सांप के पाप और अवगुण को मड़ी नहीं ग्रहण करती बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है अवश्य चलिए बनुराम जहाँ भरत मंत्र भल के सिंधु बूढ़त सब ही तुम अवलंबन दीन हे भरत जी वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया